प्रकार से भगवान की महिमा सुनाता है कोई भगवान की सुंदर स्वरूप का वर्णन करता है कोई भगवान के गुणों का वर्णन करता है कोई भगवान की लीला का वर्णन करता है कोई भगवान की निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करता है कोई भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन करता है कोई भगवान की माधुरी का वर्णन करता है तो सबको किसी के हृदय में कुछ बात खा जाती है और किसी हृदय में कोई बात खा जाती है जो जिसके हृदय में बैठ जाती है वही उसे प्रिय लगता है और फिर वही सुनाता है तो वो उसी प्रकार ये भगवान के जीवन उनके लिए आयाम है जो जो जैसा स्वभाव का व्यक्ति होता है वो भगवान की वंदना करता हुआ साधना करता हुआ भगवान को उसी प्रकार से पा लेता है तो भगवान उसी रूप में उसके हृदय में आ जाते हैं और फिर तो वही फिर वो बोलता भी है तो संत समागम में देखते हैं संत लोग विभिन्न प्रकार के भगवान की स्थितियाँ दान करते हैं विभिन्न प्रकार की महिला सुनाते हैं इसका कारण ये है वो सभी लेकिन जिसको जिसको भगवान की जैसी महिला में पढ़ना ही वैसे वैसे सुनाता है तो दावत ने संत समागम और कारण के बीच मत खंडन आप कारणी है कारुणी मन करना निर्माण है करना करने वाले भगवान इसलिए कारुणी है व्यतीत और मध खंडन व्यतीत और मध का खंडन करने वाले हैं के है खाधा का है दुख के मन है और कहीं के है कि दूसरे लोगों को जो दुख देने वाले हैं पीड़ा के पसंद होने वाले हैं आत्मी स्वभाव के हैं उनको भी गरीब कहते हैं पुरुषों को भी तो जलील मत खंडन ऐसा करने के जो दलील है जो दूसरों को दुख देते हैं उनको मत होता है तो दूसरों को कष्ट देते हैं उनका मत का आप विनाश करने वाले हो तो जो दूसरों को या पहुंचाने वाले हैं भगवान उनका विनाश करते हैं जो दूसरों को सुख देने वाले हैं सहायता करने वाले हैं भगवान उनको आनंद प्रदान करने वाले वो सज्जन है और भगवान उनको आनंद प्रदान करते हैं इस प्रकार का नियम है तो नारायण भगवान के सामने बोलते हैं आप कल्याण धान है और जो परोपकारी है उदार व्यक्ति है उनके ऊपर आप बढ़ा करके उनको आनंद देने वाले हैं और जो गरीब है जो दूसरों को कष्ट देते हैं और अभिमानी व्यक्ति है उनका आप विदान करते हो सभी कुशल घोषला मंडल ये घोषला मंडल आप सब प्रकार के कुशल घोषला मंडल बने कौशल नरेश है और यहाँ अयोध्या और कौशल राज्य में सबकी आपने रक्षा की सबको सुख शांति आपने प्रदान की सबको आनंदित किया इसलिए आप घोषला मंडल है और सब श्री कुशल आप सब प्रकार के कुशल है सब प्रकार के कुशल तो मैंने सर्व समर्थ है लौकिक सुख भी दे सकते हैं पारमार्थिक सुख भी दे सकते हैं लोगों को जिस प्रकार से देखा जिनका शरीर होता है उस प्रकार से वो सब करने में आप समर्थ हैं ये आपकी महिमा सब प्रकार से कुशल जैसे कभी मधुमथन और कभी उसके मन का मंथन करने वाले मंथन माने के बिना कहीं कभी उसके मन को उनका नाश करने वाले हैं यदि उसके मन में सब आ गए अब अलग अलग नाम नहीं खिलाना पड़ा काम मद मसर इसका देश संपन्न पाखंड जितने भी ये सब है सबसे क्या है ये सब सबसे छुटकारा करा देने वाले दूसरे से भगवान का इस्तेमाल करें ध्यान करें भजन करें उनके गुणों का इस्तेमाल करें वैसे वैसे ये दोष दूर होते हैं अब बार बार ये कहते रहते हैं कि देखो तो भगवान का ऋण करने से ये करीबन पतन बालकांड से कहते कहते खड़े आ रहे हैं उत्तरखंड भी आ गया रात एक बार ने हजारों बार ये बात कही कि देखो भगवान का स्मरण करो ध्यान करो चिंतन करो तो उससे तुम्हारे ये कर्ज नहीं मानसिक विकास दूर हो तो इससे ये भी पता चलता है कि मानसिक विकास दूर नहीं हुए तो इसमें क्या भगवान का भजन किया क्या साधन है सबके सब विकास में जानी चाहिए जिससे शांत हो जाए उदास हो जाए सबका हित कल्याण चाहने लगे सबके प्रति प्रेम भाव हो जाए लोगों के जब आ जाए तो समझो कि ये साधना हुई और भगवान की कृपा भी प्राप्त हुई सूर्य सूर्य में बालकान कहते थे देवी कथे समय समेता कहीं सुनिए समुद्र सचेता मेरी कलमल रहित मंगल भागी कलमल रहित वही से कहते चले आ रहे देखो भगवान की कथा सुनो भगवान का नाम स्मरण करो कथा सुनाओ बार बार भगवान के शब्दों का चिंतन करो हाँ? तो ये कलमल भरिए काम को तो घात विकार दूर हो अहंकार दूर हो दर्द दूर हो मत दूर हो ये सबके सब मिले सरल स्वभाव बने शांति बने सहानुभूति प्रेम बने ये प्रकार के बात आवे प्रकार के कलमल मथन नाम ममता और आपका नाम जो है वो ममता भी है ये नाम ही क्या है महिमा आपकी जो बातें क्या है आपका नाम भी ये कलमल मथन है और ममता ममता का हरण करने वाला है विराश कर दे ममता विरासम हाँ, ममत्व ममता के माने ये मेरा ये मेरा ये मेरा शरीर तो अपना मेरा शरीर मेरे प्राण मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान मेरी संपत्ति मेरा परिवार मेरा पद मेरा पद मैं अमुक अमुक स्थान पर रहा मैं अमुक अमुक पद के ऊपर रहा मैंने ये काम किया मैंने ये काम किया मेरे इतने ममता बढ़ा रही है देखो लोगों से वृद्धावस्था में सुनते हैं संतों का कहना ये है कि ममता तो बचपन से देखने में आती बचपन से लेकिन वृद्धावस्था में ममता पराकाष्ठा पर पहुंचती मतलब ये सब धीरे धीरे करके ये प्रौढ़ होते जाते हैं धीरे धीरे जो है वो बढ़ते चले जाते हैं बढ़ते चले जाते हैं जब वृद्धावस्था आती है तो किसी बंद गति से मिलो तो वो अपना परिचय कर देगा जहाँ जहाँ उसकी ममता है वो पूरी व्यक्ति गिनाएगा तो पूरी मेरा यहाँ मकान वहाँ मैंने मकान बनवाया वहाँ मेरा वो पुत्र फिर वो पुत्र उसको वहाँ पढ़ाया फिर वहाँ पर वो चला गया वो अमेरिका में है वो बम्बई में है वो मद्रास में है उसकी सब शादी की उसके इतने लड़के हुए उसका ऐसा हुआ उसका ऐसा है उसका ऐसा है एक बात सुना देगा अपने ममता की पूछिए और फिर उसके बाद में अगर साल पर छह महीने की बात फिर लो तो नमस्कार नमस्कार प्रणाम प्रणाम फिर क्या कहेगा वो है क्या क्या बताने कि हमारा पाना पुत्र वहाँ पर है फलाना वहाँ पर है सब भी किया उसने कहिए तो, तो बता आपने पहले बात बताई थी कहीं अंतर आपको बताते <laughs> कथा हो बस बड़ी तो ये व्यक्ति का ये साइकोलॉजी इस प्रकार की बन जाती है ओल्ड एज में कि ममता परिपुष्ट होकर के बड़ी दृढ़ हो जाती ममता कौन किसका पुत्र कौन किसका भाई किसका बंधु ये सब के सब ये जब तभी तक है जब तक की कोई भगवान का भजन नहीं कीर्तन नहीं कोई दान जब नहीं कोई ध्यान साधना नहीं जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर से संबंध रखने वाली तो दुनिया क्या होगी लेकिन वही मेरी वही मरी ये मेरा वो मेरा वो मेरा आप छूटता नहीं रखता में और सारे जीवन इसको पालते पालते उसका अभ्यास करते करते में बैठ जाता है और ऐसा दृढ़ हो जाता है कुछ कहने को अब इसके कैसे बताएं अब ये ममता चाहिए और लोगों को तो सुविधा ही है ममता ये मेरी ये कहने में अच्छा लगता होगा गलती करते होंगे लेकिन वो जहाँ जहाँ जिनमें जिनमें ममता होती है तो अब देख चुके उसमें पंचदशी में और वैसा में उपनिषद का उसमें जो दिया हुआ तो उससे ये है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कहीं ठीक रखता है तो क्या होता है उसका बिना होता है नष्ट जाता है दुखी होता है तो ममता का परिणाम क्या है कोई ममता कोई बड़ी अच्छी चीज थोड़ी लोग बात लेकिन संसारी दूसरी जब व्यक्ति की होगी अगर घर में चार छह लोग हैं और कोई व्यक्ति थोड़ा व्यस्त हो ममता न रखता हो तो क्या कहना हर एक इंसान में भी कोई आदमी है ममता में लोग ये आदमी जिसको ममता मोह न हो वो निंदनीय हो जाए बेकार आदमी हो जाए तो इसलिए विचारे करते रहते कि ऐसा न हो कि हम बेकार के घोषित कर दिए जाए इसलिए ममता मोह बनाए रखते तो देखो उल्टी शिक्षा समाज आने की जरूरत थोड़ा है ये तो अपने आप नए पिछले जन्मों से चला अरे भाई कृपा करो तो सिखाओ इसको किसी प्रकार से पुत्रों को भाई बंधुओं को किसी प्रकार से समझाओ सिखाओ कि ममता से जन्मांतर चली आ रही है अब तो छोड़ो अब तो निवृत्त हो जाओ इससे कब तक ही भूमित रहोगे जब तक ममता रहेगी तब तक जीवन में दुख जरूर रहेगा उसमें न जोड़े ममता का नाम है कि जब तक की अगर हमारे पास धन में ममता है तो जब तक धन हम बांट नहीं देंगे तब तक ममता में देख नहीं अरे आप धन बांट भी दोगे तो भी ममता बनी रहेगी अगर ममता के मन में होगी बांट दोगे तो क्या करोगे मेरे पास बहुत धन था लेकिन मैंने सबको बांट दिया अपने पास कुछ नहीं एक ऐसी महात्मा है वो भी मिलते रहते एक बार उसने बताया ताकि हमको जब हम रिटायर हुए तो पेंशन हमको कल्याण को कहीं मिला हमने भाई बंधुओं को तो सब दे दिया अपने घर में दे दिया बस एक लाख रूपया अपने पास रखा बस और हमने सब बांट दिया मान लिया अच्छा हुआ धन ममता खत्म हो गई लेकिन ये बात अब उनके मन से भूलती नहीं कि मुझे मेरे पास इतना रुपया था मैंने वो सब बांट दिया तो पांच सौ तो न पांच सौ तो वो कोई मात नहीं रखता मात इस बात का मन में ममता है या नहीं है समस्या तो इस बात की ममता व्यक्ति के लिए धन चाहे और चाहे जाए उसकी बनाओ उससे कुछ नहीं होता ऐसे परिवार को चाहे छोड़ो चाहे परिवार के बीच में रहो लेकिन ममता अगर रही तो परिवार छोड़कर भी ममता होती एक बार हमारे साथ एक सज्जन जो सिद्ध पड़े गए बहुत पहले की बात को बीस साल पहले वहाँ गए तो जहाँ ठहरे हम भी एक कमरे में ठहरे अब वो रोज शाम को कहे कि यहाँ टेलीफोन कहाँ से होगा टेलीफोन यहाँ कहाँ से होगा क्यों ठीक जो है वो टेलीफोन करना पता लगाना करना अरे हमका चार सेटिंग के लिए आप लिए आए अरे उसके बाद में फिर पहुंच जाओ जो कुछ होना होगा देख लेना वहां जाकर अब जो है छोटा दूर बैठा हुआ तो उनका दूर पर जो है हजार किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा भी उसकी ममता तो उसके में बैठे हुई कोई व्यक्त होकर के आएगा तो ममता घर में थोड़ी छूट नहीं बनी वो तो ममता तो मन में बैठी हुई वो तो जहाँ जाओगे वहां साथ लगी रहेगी और जहाँ जहाँ होंगे आप वहीं तो अगर ममता को पूजा पहुँचानी और हृदय में उसका बात है तो आप कितनी दूर भाग करके जाओगे तो उसे कोई छूटे तो भागने थोड़ी छूटे ममता को ज्ञान के द्वारा विचार के द्वारा साधना के द्वारा उसे छुटकारा होना पड़ेगा सब कल्याण तुलसीदास पर भी है इसी से बोलते रहते हैं भगवान राम के माने भगवान राम कौन तुलसीदास प्रभु उन्हीं का नाम भगवान है उन्हीं का नाम राम है इसलिए एक नाम का तुलसीदास है प्रभु पानी भरत जन जो आपके शरण में आते हैं आप उनकी रक्षा करो अविनाश जी कहते हैं हम आपके शरण में हैं आप हमारी रक्षा करें और हमारे मन में जो सोच भरा हुआ है उसको आप दूर करो हमारे विश्व को शांति प्रदान करो ये तो अपने नाराजी की बात भी हुई और बाकी सबके लोगों के लिए ये प्रार्थना बहुत अच्छी है इस प्रकार की प्रार्थना करें तो भगवान बहुत सी बातें हैं जो भगवान से प्रार्थना जैसी करनी चाहिए उस प्रकार की एक आदर्श प्रार्थना है भगवान की गुण का भी वर्णन है संक्षेप में और भगवान से जो इच्छा करनी चाहिए मांगना चाहिए वो भी इसमें दिया हुआ यही मांगना चाहिए कि भगवान हमारी ममता दूर हो काम क्रोधार विकार दूर हो कि शरीर के जो विकास है उनसे हमारे चित्र शांत हो शुद्ध हृदय हो आनंद की अनुभूति हो आपकी कृपा हो तो आनंद प्रदान हो हमारे अंदर आगे यही सब भगवान से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए उनसे तो इस प्रकार से कई शरीर मुनि नारद इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ नैलाल जी भगवान की सुनती और बड़ी जो गुणग्राम भगवान के जो गुणग्रामों का वर्णन किया का मन तो भगवान के विविध गुणों का वर्णन किया भगवान का और ऐसे करते हुए नारद जी सौभाग्य हृदय और नारद जी ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा और जैसा सुंदर स्वरूप भगवान का दिखाई दिया वैसे ही नारद जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया और नारद जी को लगा जब भगवान की उनका समाप्त होगी तो दोबारा कौन न दिखाई इस प्रकार में इसलिए इनके इनके सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लो बस वही इनका इस्तेमाल करते हैं यही जो जो कुछ भी वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं सांकेतिक भाषा में है भगवान के लीला संवरण करने की कथा साफ साफ तुलसीदास नहीं कहते न सीताहरण की बात कहते हैं और न भगवान राम के अपने जैसा के धाम जाने की बात भी कहते हैं वो भी नहीं जैसे पार्वती जी ने शुरू में बालकाल में देखते हैं जो जितने भी लोग किए हैं और मैं अंतिम प्रश्न यही था कि भगवान ये भी बताइए कि भगवान ने किस प्रकार से अपनी लीला समाप्त करके और फिर बैठक धाम को किस प्रकार से चले गए तो प्रश्न तो था और उस प्रश्न को बताना भी था शंकर जी को नहीं तो पार्वती बात में करें लगती एक बात रह अब और ऐसा बताइए एक बात रह तो शंकर जी ने उसके संकेत के द्वारा बता दिया लेकिन वो बताते शंकर जी को अच्छा नहीं लगा तो कोई अच्छी बात है भगवान को परम धाम जा रहे हैं उसकी चर्चा करो बस भगवान तो नित्य विद्यमान है वो अयोध्या में भी नित्य विद्यमान है अयोध्या का देश है ये भी उनका भगवान का नित्य धाम है और जो भावात्मक है नित्य धाम वो भी उनका नित्य धाम है दोनों देते है कोई ऐसा थोड़ी था कि जहाँ भगवान का वैष्णव धाम है अब वो वहाँ बैठे से पड़ा रहा जब तक आ गए अयोध्या में वहाँ कोई खाई नहीं ऐसे थोड़ी है वहाँ पर भी सही थे एक देशी भगवान थोड़े जब यहाँ जाएंगे तो वहाँ में होंगे वहाँ होंगे यहाँ में होंगे ऐसे नहीं है दोनों स्थानों में है वहाँ बिल्कुल काम में भी है अयोध्या में भी है इसलिए अयोध्या से जाने की बात तक नहीं होती जैसे कुंडधाम में पहले से उसके दोनों धंधा होते इन सब बातों को सोच करके ये सब बता दिया कि भगवान ने अपना जो वो लीला समाप्त कर दिया और फिर वहाँ से अमराई से लौट करके फिर भगवान राजभवन में नगर में तो नहीं आते राजभवन में नहीं आते वही बात कर तुलसीदास ने फिर ये लिखा कि भगवान से फिर हो गया तो भगवान फिर अपने भवन में गए जैसे पहली बार बात हुई थी संत कुमार जब आए और फिर जब वहाँ भगवान बैठे हुए थे अपने उपवन में वहाँ पर फिर संत कुमारों जाने के बाद हरताली का प्रश्न हुआ पर भगवान ने संतों संतों का वर्णन किया उनके लक्षणों का और उसके बाद फिर क्या हुआ पर तुलसीदास ने बहुत बताया कि उसके बाद फिर भगवान अपने भवन चले तो जब कहा जब कहीं तो कोई प्रसंग कारण होता है तो उसका उपक्रम होता है पर उसका उपसंहार बताते हैं इस प्रकार से वो जैसे भगवान वहाँ से आए ऐसा तो बताएंगे लोग कभी चले गए वशिष्ठ जी को जैसे बताया दस दिन भगवान राम के पास एक बार आए उनसे ऐसे प्रार्थना की तो बाद में क्या कहा कि ऐसे की बच्ची जी फिर अपने घर चले गए पर जब आए तो तो, तो बताना पड़ेगा न बताना तो ये लगाना पड़ेगा भूल तो गई तो अमराई में आकर के भगवान का फिर ये वर्णन ही आता कि उसके बाद फिर वो राजभवन में चले गए या नहीं चले गए सब है सब ऐसी बातों को उसी से पता चलता है विस्तृत से बात यहाँ पर कथा समाप्त हो जाती है नारद जी फिर धाम देखो नारद जी एक बार आए थे तो, तो, तो, तो भगवान तो वहाँ से राजभवन से नगर के बाहर आए और हाथी घोड़े बांधे

सिंहासन पर भगवान का विराजमान होना राम राज्य की स्थापना होना और विभिन्न प्रकार के भगवान की जो लीलाएं जो होती रही उन सबका वर्णन यहाँ पर शंकर जी ने कर दिया है अंत में नारद जी आते भूमि प्रार्थना कर गए बाद उसके बाद में और रघुपति